और फिल्म निदेशक थे पी लंकेश तरक्की पसंद ख्यालों के आदमी थे प्रगतिशील विचारों के थे और उन्होंने जिंदगी भर सांप्रदायिक शक्तियों को ललकारा जातीय विषमताओं को चुनौती दी और हर जगह अन्याय के खिलाफ नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाते रहे पी लंकेश ने अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए कन्नड़ भाषा में लंकेश पत्रिके नाम की एक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया लंकेश पत्रिके ने जल्दी ही कन्नड़ साहित्य में कन्नड़ पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बना ली गौरी लंकेश का भी झुकाव अपने पिता की तरह ही पत्रकारिता की तरफ हो गया था उन्होंने Indian Institute of Mass Communication से पत्रकारिता की पढ़ाई की और फिर उन्होंने द टाइम्स ऑफ इंडिया में नौकरी शुरू कर दी टाइम्स ऑफ इंडिया में ही उन्होंने अपने एक साथी पत्रकार चिदानंद रसघट्टा से शादी कर ली ये शादी बहुत दिनों तक नहीं चली और पांच बरस बाद गौरी लंकेश का तलाक हो गया इसके बाद वे अंग्रेजी साप्ताहिक संडे की बेंगलोर संवाददाता बनकर काम करने लगी और इस पद पर वे नौ बरस तक रही फिर गौरी लंकेश ने एनाडू टीवी चैनल के लिए भी काम किया सन 2000 में उनके पिता पी लंकेश का इंतकाल हो गया पी लंकेश की मौत के बाद गौरी लंकेश और उनके भाई इंद्रजीत लंकेश दोनों मिलकर लंकेश पत्रिके को निकालने लगे गौरी लंकेश लंकेश पत्रिके का संपादकीय काम संभालती थी वहीं इंद्रजीत लंकेश पत्रिका का व्यवसायिक पक्ष देखते थे लेकिन कुछ समय बाद ही भाई बहन में वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो गए गौरी लंकेश एक क्रांतिकारी महिला थी लंकेश पत्रिके में क्रांतिकारी रचनाएं छपने लगी जिसका इंद्रजीत लंकेश ने विरोध किया उसके बाद इंद्रजीत लंकेश गौरी लंकेश का साथ छोड़कर चले गए और गौरी लंकेश ने लंकेश पत्रिके का नाम बदलकर गौरी लंकेश पत्रिके कर दिया और अपनी पत्रिका में वे सांप्रदायिक शक्तियों पर जातीय शक्तियों पर सामंतवादी शक्तियों पर खुलकर चोट करने लगी उस समय तक कर्नाटक में हिंदू कट्टरता बढ़ती जा रही थी कर्नाटक में दलित साहित्यकारों पर भी हमले होने लगे थे एक दलित साहित्यकार पेरोमल मुर्गन पर प्रतिक्रियावादियों ने किस्म किस्म के हमले किए तो गौरी लंकेश चट्टान की तरह पेरोमल मुर्गन के साथ खड़ी हो गई इसके बाद गौरी लंकेश ने एक संस्था बनाई कौमू सौहार्द वेदिके जो भाईचारा यानी सौहार्द बढ़ाने का एक संगठन था गौरी लंकेश को जगह जगह से धमकियां मिलने लगी और वे प्रतिक्रियावादी शक्तियों की आंखों का काटा बन गई लेकिन इसके बावजूद उन्होंने लिखना पढ़ना नहीं छोड़ा गौरी लंकेश को अपने उसूलों से इतना प्यार था कि वे अपनी पत्रिका के लिए कोई विज्ञापन स्वीकार नहीं करती थी उनका ये मानना था कि पत्रिका में विज्ञापन छपने से पत्रिकाएं अपने मूल्यों पर अपने उसूलों पर समझौता करने लगती हैं तो बहुत सारी आर्थिक कठिनाइयों को झेलते हुए भी गौरी लंकेश ने अपनी पत्रिका का संपादन और प्रकाशन जारी रखा पांच सितंबर सन 2017 को आज से लगभग डेढ़ बरस पहले गौरी लंकेश अपने कार्यालय से अपने घर वापस आई उनका घर बेंगलोर के एक मोहल्ले राज राजेश्वरी नगर में था वहां पहले से तीन हत्यारे घात लगाकर गौरी लंकेश का इंतजार कर रहे थे गौरी लंकेश जो ही अपनी कार से उतरी इन हत्यारों ने उन पर सात गोलियां चला दी इनमें से तीन गोलियां गौरी लंकेश को लगी और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया गौरी लंकेश की शहादत के बाद पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई कर्नाटक की सरकार ने ऐलान किया कि गौरी लंकेश को राजकीय सम्मान के साथ दफनाया जाएगा गौरी लंकेश के शव को रविंद्र कला क्षेत्र में रखा गया जहां हजारों लोगों ने आकर उनके अंतिम दर्शन किए और उन पर फूल चढ़ाए इसके बाद पुलिस की एक टुकड़ी ने हथियार उलटकर गौरी लंकेश को सलामी दी और गौरी लंकेश को दफना दिया गया चूंकि गौरी लंकेश नास्तिक थी एक तर्कशास्त्री थी इसलिए उनकी अंत्येष्टि में किसी भी धार्मिक रीति रिवाज का पालन नहीं किया गया गौरी लंकेश के हत्यारों को पकड़ने के लिए कर्नाटक सरकार ने 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की उसके बाद एक एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया और इस एसआईटी ने अंत में गौरी लंकेश के एक हत्यारे को धर दबोचा जिसका नाम परशुराम वाघमारे है परशुराम वाघमारे ने पुलिस को बताया कि उसे ये कहकर सुपारी दी गई थी हत्या की कि हिंदू धर्म को बचाने के लिए गौरी लंकेश की हत्या जरूरी है परशुराम वाघमारे ने पुलिस को यह भी बताया कि वो व्यक्तिगत तौर पर यह भी नहीं जानता था कि गौरी लंकेश कौन है गौरी लंकेश को एक बहुत ही बड़े पुरस्कार अन्ना पलिश कवाया पुरस्कार से सम्मानित किया गया अन्ना पुलिस कवाया एक रूसी महिला पत्रकार थी जिनकी भी हत्या कर दी गई थी क्योंकि उन्होंने कभी भी सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा था ये पुरस्कार पाने वाली गौरी लंकेश हिंदुस्तान की एकमात्र पत्रकार है तो साथियों इस क्रांतिकारी पत्रकार को क्रांतिकारी सलाम अगले शुक्रवार को फिर किसी क्रांतिकारी की कहानी के साथ मैं हाजिर रहूंगा तब तक अमिताभ कुमार दास को आज्ञा दीजिए नमस्कार किससे क्रांतिकारियों के जिन्होंने इनकलाब के शोलों को बुझने नहीं दिया